अनोशो टॉक कैवल्य उपनिषद नंबर फोर्टीन खंडों में विभाजित नहीं अखंड है खंडों में विभाजित दिखाई पड़ता है तो भी अखंड बहुत तरह के खंड दिखाई पड़ते हैं लेकिन सभी खंड मूल आधार में संयुक्त हैं और इकट्ठे के होने की संभावना ही नहीं अस्तित्व के होने की संभावना ही नहीं अस्तित्व बिखर जाए अगर खंडों में हो अस्तित्व बिखरता नहीं क्योंकि खंडों में बटा हुआ नहीं है अखंड है इसे हम ऐसा समझें मेरा हाथ है एक खंड है मेरी आंख है एक खंड है मेरे पैर हैं एक खंड लेकिन मैं अखंड हूं और मेरी आंख और मेरा हाथ गहरे में जुड़ा है संयुक्त है मेरी आंख देखती है और मेरा हाथ चीज को उठाने को बढ़ जाता है मेरी आंख देखती है सड़क पर सांप को और मेरा पैर छलांग लगा देता है फिर भी पैर अलग है पैर देख नहीं सकता आंख छलांग नहीं लगा सकती हाथ छू सकते हैं कान सुन सकते हैं हृदय धड़कता है मस्तिष्क सोचता है खून बहता है हड्डी मांस मज्जा बनती है ये सब खंड हैं और एक एक खंड अलग से समझने की हम कोशिश करें तो अलग दिखाई पड़ता है लेकिन गहरे में उतरे तो सभी खंडों के भीतर कोई एक भी छाया हुआ है जो सभी को घेरे हुए है अन्यथा आंख देखे और पैर छलांग लगा जाए ये कैसे हो कहीं ना कहीं आंख और पैर जुड़े होने चाहिए कहीं ना कहीं आंख और पैर एक ही चीज के दो रूप होने चाहिए कहीं गहरे में जहां हृदय धड़कता है वहीं मस्तिष्क का विचार भी जुड़ा होना चाहिए क्योंकि मस्तिष्क में विचार का फर्क होता है हृदय की धड़कन बदल जाती है मस्तिष्क में विचार का फर्क होता है खून की चाल बदल जाती है मस्तिष्क में क्रोध होता है रक्तचाप बढ़ जाता है मस्तिष्क में वासना जगती है सारा शरीर प्रभावित हो जाता है आंदोलित हो जाता है पैर में कांटा गड़ता है आंख में आंसू आ जाता है कहीं ना कहीं पैर और आंख कहीं ना कहीं हृदय और मस्तिष्क कहीं ना कहीं इस शरीर का अनु अनु संयुक्त होना चाहिए वो संयुक्तता दिखाई नहीं पड़ती दिखाई तो ये खंड पड़ते हैं वो संयुक्तता ओझल है आंख से होगी ही गहने गहन में गहरे में छिपी ठीक ऐसे ही जैसे ये व्यक्ति हमारा व्यक्ति संयुक्त है ऐसे ही ये पूरा विराट भी संयुक्त है इसे हम एक तरह से समझे तो शायद ख्याल में आ जाए एक एक आदमी के शरीर में कोई सात करोड़ जीव कोष है अर्थ होता है कि एक व्यक्ति के शरीर को बनाने में सात करोड़ जीवंत कोष काम करते मतलब आप सात करोड़ जीवन आपके भीतर बसे आप एक बड़ी बस्ती इसलिए भारतीयों ने आपके शरीर को पुर कहा है और आपको पुरुष कहा है आप एक बड़ी बस्ती है सात करोड़ व्यक्ति आपके भीतर है प्रत्येक सेल अपने अपने में अपनी नियति रखता है अपना व्यक्तित्व रखता है आपके शरीर का एक एक सेल एक एक व्यक्ति है अपनी हैसियत से आपकी हैसियत से नहीं अपनी ही हैसियत से एक एक व्यक्ति है आपके सेल को बाहर निकाल लिया जाए तो वो जिंदा रहेगा आपके बिना भी और करोड़ों वर्ष जिंदा रह सकता है आप तो सत्तर वर्ष में समाप्त हो जाएंगे वो करोड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकता अपनी हैसियत उसका अपना छोटा सा हृदय है और अपना छोटा सा मस्तिष्क है और वैज्ञानिक कहते हैं आज नहीं कल शायद हमें पता चले कि उसका अपना अनुभव उसके अपने विचार उसका अपना अहंकार है क्यों क्योंकि वो अपनी आत्मरक्षा करता है वो अपने जीवन को बचाने की चेष्टा करता है हमले में सिकुड़ जाता है प्रेम में फैल जाता है वो भी प्रेम करता है और उस जीव कोष्ठ को आपका कोई भी पता नहीं कि आप भी हो ये जो सात करोड़ जीव कोष हैं आपके शरीर में इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि इनका जुड़कर भी कोई एक व्यक्ति है इन सबके जोड़ से भी कोई एक समग्र व्यक्तित्व निर्मित हो रहा है इनका इन्हें कोई भी पता नहीं उपनिषद मानते हैं रहस्यवादी मानते हैं कहना ठीक नहीं कि मानते हैं वे जानते ही हैं कि ठीक हम भी इस विराट जगत में छोटे छोटे जीव को हैं और हम सब से मिलकर भी जो निर्मित हो रहा है उसका हमें पता नहीं जिस दिन पता चल जाता है उसी दिन उसका नाम परमात्मा है हम सब भी इस विराट में जीव कोष हैं हम अपनी हैसियत से जीते हैं जैसे हमारे शरीर का जीव कोष अपनी हैसियत से जीता है शायद किसी दिन सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलेगा कि उस जीव कोष के भीतर भी छोटे जीव कोष हैं जो अपनी हैसियत से जीते हैं जैसे अणु है भौतिकविद के लिए परमाणु है इलेक्ट्रॉन हैं इनसे मिलकर सारा पदार्थ बना है ठीक ऐसी ही चैतन्य के भी कण हैं जीव कोष हैं उनसे मिलकर समस्त जीवन बना है इस विराट जीवन को खंड खंड में देखना ही विज्ञान है इसको अखंड देख पाना धर्म है अगर आपके शरीर को भी वैज्ञानिक छुएगा तो वो खंड खंड कर लेगा तोड़ लेगा टुकड़ों में एक एक सेल को अलग करके समझने की कोशिश करेगा निश्चित ही क्योंकि आपके शरीर के किसी सेल को आपका पता नहीं है आपके शरीर का कोई भी सेल आपकी खबर नहीं दे सकता इसलिए वैज्ञानिक कहेगा आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं है आदमी करोड़ों सेलों का एक जोड़ मात्र है इकाई नहीं सिर्फ जोड़ आदमी अलग से कुछ भी नहीं है आत्मा अलग से कुछ भी नहीं है इन सात करोड़ जीवन कोषों का जोड़ फिर वो एक जीवन कोष को भी काटेगा तो पाएगा उसमें कुछ रासायनिक तत्व हैं पाएगा कि कुछ धातुएं हैं पाएगा कि कुछ रस हैं पाएगा कि कुछ पदार्थ है वो पदार्थ के कण भी उसे खबर नहीं देंगे कि हमसे मिलकर जो बनता था वो एक जीवन था वे भी सिर्फ अपनी ही खबर देंगे उन्हें भी उस जीवन का कोई पता नहीं तो अंततः वैज्ञानिक कहेगा कि जीवकोष रासायनिक पदार्थों का जोड़ है और व्यक्ति की आत्मा इन कोषों का जोड़ है जोड़ इसको ठीक से समझ लेना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं है जीवन में सिर्फ जोड़ खंडों का जोड़ अखंड धर्म इसकी ठीक विपरीत मान्यता है धर्म कहता है खंड का जोड़ नहीं है अखंड खंड अखंड का भाग है अखंड खंडों का जोड़ नहीं है खंड अखंड का भाग है खंडों के जोड़ से अखंड नहीं बनता अखंड अपनी हैसियत से है वो कोई गाणितिक जोड़ नहीं है सावयव एकता है अखंड अपनी हैसियत से है खंडों का उसका पता नहीं है क्योंकि खंड को अखंड का पता इसलिए नहीं होता कि खंड अपने भीतर ही बंध के जीता है उसे पता नहीं होता जब खंड अपने से बाहर निकलता है अपने से ऊपर उठता है जाग के अपने से पार देखता है तब उसे अखंड की प्रतीति शुरू होती है इस अपने से ऊपर उठने का ही सूत्र साक्षी है इस अपने से पार उठने का सूत्र साक्षी है जब भी कोई अपने प्रति भी साक्षी होकर देखता है तो उसके भीतर अखंड का स्मरण शुरू हो जाता है क्योंकि ये सब जो तो उसे दिखाई पड़ता है हाथ दिखाई पड़ता है पैर दिखाई पड़ते हैं आंख दिखाई पड़ती है इन सबको वो देखने वाला कौन है वो अलग हो जाता है अलग होते से ही खंड के ऊपर अखंड की छाया पड़नी शुरू हो जाती है या खंड के भीतर अखंड का अंकुरन शुरू हो जाता है या खंड के भीतर जो सोया हुआ भाव था वो टूट जाता है जागरण पकड़ता है और अपने से पार आंख उठती ऐसा हम समझे कि मां के पेट में एक बच्चा है गर्भ में उसे इस जगत का कोई भी तो पता नहीं है क्यों पता नहीं है क्योंकि तो मां के पेट में जो बच्चा है वो अपनी ही हैसियत से एक इकाई है और उसका जगत से कोई भी सीधा संबंध नहीं है उसे पता भी नहीं है कि सूरज निकलता है चांद तारे हैं उसे पता भी नहीं कि लोग हैं विराट जगत उसे कुछ भी पता नहीं है और गर्भ के भीतर बच्चा इतना सुनिश्चित इकाई में बंधा हुआ है कि वो अपने को ही जगत मान ले तो कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि न उसे खाने के लिए आयोजन करना पड़ता न उसे पीने के लिए आयोजन करना पड़ता न उसे आत्मरक्षा के लिए आयोजन करना पड़ता उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता वो सिर्फ होता है और परिपूर्ण होता है उसको कहीं कोई कमी नहीं होती उसे ख्याल भी नहीं आ सकता कि मुझसे अलग भी कुछ है लेकिन गर्भ के बाहर आएगा अपनी सीमाओं को तोड़ेगा तो जगत का प्रारंभ होगा इसलिए वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे का जन्म जो है बहुत ट्रामेटिक है उसे बड़ा धक्का लगता है एकदम एक सीमा में बंधा हुआ अस्तित्व था एकदम से टूट जाता है और एक असीम जगत में खड़ा हो जाता है जहां कुछ भी सूझता नहीं पहली बार पता चलता है मैं ही नहीं हूं और भी बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह धक्का इतना गहरा है कि जिंदगी भर इस धक्के से आदमी संभल नहीं पाता और मनोवैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं उसमें थोड़ी सच्चाई है कि आदमी जो शांति की खोज करता है आनंद की खोज करता है स्वतंत्रता की खोज करता है आत्मा की खोज करता है परमात्मा की खोज करता है ये उसके गर्भ के अनुभव के कारण करता है क्योंकि गर्भ में वो परम स्वतंत्र था परम आनंदित था परम शांत था कोई तनाव ना था कोई सीमा ना थी जीवन पूरा का पूरा उपलब्ध था उसमें कहीं कोई बाधा ना थी कोई जिम्मेवारी ना थी कोई बोझ ना था कोई चिंता ना थी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो मोक्ष की खोज है ये उस गर्भ में जो अनुभव हुई है शांति उसके ही कारण इसमें थोड़ी दूर तक सच्चाई है इसमें थोड़ी दूर तक सच्चाई है क्योंकि वो अनुभव गहरा है और फिर इसके बाद जगत का धक्का गहरा है अभी किसी मनोवैज्ञानिक ने इस बात को और भारतीय चिंतन को जोड़ा नहीं नहीं तो उन्हें बड़ी हैरानी होगी अगर वो इस चिंतन को जोड़ेंगे तो भारतीय मन की ये आकांक्षा कि जन्म से कैसे छुटकारा हो मरण से कैसे छुटकारा हो तत्काल उनको ख्याल में आ जाएगी कि ये जन्म से छुटकारे का मतलब है कि गर्भ से जो धक्का लगा है उससे कैसे छुटकारा हो जन्म लेने से जो धक्का लगा है उससे कैसे छुटकारा हो मोक्ष की जो हमारी धारणा है वो एक विराट गर्भ की है उसे हमने हिरण्य में गर्भ कहा भी है वूम ऑफ द डिवाइन वो जो परमात्मा का गर्भ है उसमें मैं ऐसे लीन हो जाऊं जैसे मां के गर्भ में था न कोई चिंता न कोई पीड़ा न पराये का पता लेकिन बच्चा बाहर आता है तो उसे जगत दिखाई पड़ता है बीज टूटता है अंकुरित होता है तो उसे सूरज के दर्शन होते हैं जहां तक हमारी स्थिति है जैसे हम हैं अभी हम अहंकार की खोल में बंद हैं उसके पार हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता मैं ही मैं दिखाई पड़ता हूं अगर कभी थोड़ी बहुत झलक किसी की मिलती भी है तो वो भी मेरे होने के कारण मिलती है मेरा मित्र है मेरा भाई है मेरी पत्नी है मेरा पति है तो मेरे से कहीं थोड़ा सा संबंध जुड़ता है तो थोड़ी सी झलक मुझे मिलती बस यही मेरा जगत है इसके पार जो विराट फैला हुआ है उसका मुझे कोई पता नहीं धर्म एक पुनर्जन्म है एक रिबर्थ एक और गर्भ को तोड़ना है ये अहंकार को भी तोड़ देना है लेकिन ये अहंकार तभी टूटे जब मेरे खंडों का जो जोड़ है उसके पार मुझ में कोई अंकुरन शुरू हो जाए कुछ भिन्न मेरे भीतर जागने लगे मेरे जोर से ज्यादा जिस दिन व्यक्ति को खंडों के बीच अखंड की प्रतीति शुरू होती है उसी दिन ब्रह्म की यात्रा पर हम निकले ऐसा जानना पहली बात कि अखंड खंडों का जोड़ नहीं इसे हम और थोड़ा एक तरह से समझ लें तो शायद ख्याल ना जाए क्योंकि बात तो कठिन और अनुभव की न होने से और कठिन हो जाती है समझनी एक से दस तक की गिनती है ये सिर्फ जोड़ एक एक को दस बार जोड़ देने से दस हो गया है अगर एक एक को दस बार निकाल लेंगे तो पीछे शून्य हो जाएगा कुछ बचेगा नहीं तो दस खंडों का जोड़ है जोड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है दस में लेकिन एक कविता है उसमें जितने शब्द हैं उनका जोड़ ही नहीं है वो उनसे थोड़ी ज्यादा है वो जो थोड़ी ज्यादा है वही गणित और काव्य का फर्क है अगर कोई कहे कि सिर्फ शब्दों का जोड़ है तो वो गलत कह रहा है जब एक कविता को आप पढ़ते हैं तो उसके शब्द भूल भी जाएं तो भी कुछ भनक आपके भीतर शेष रह जाती शब्द याद भी ना रह जाएं तो भी उस काव्य को जिस भांति से हृदय में स्पर्श हुआ था वो पीछे छूट जाता है अगर कविता के सारे शब्दों को अलग निकाल कर रख लें एक कागज पर क्रमवार लिख दें तो उनको पढ़ने से कुछ भी भाव पैदा नहीं होता कविता के उन्हीं शब्दों को दूसरे ढंग से जमा दें तो काव्य बिखर जाता है विसर्जित हो जाता है कविता को पढ़ते वक्त जो आपके भीतर अनुभूति होती है वो शब्दों का जोड़ नहीं है जोड़ से कुछ ज्यादा है शायद इसे भी समझना थोड़ा कठिन हो तो ऐसा समझे एक चित्रकार एक एक कैनवस पर चित्र बनाता है रंगों से बनाता है लेकिन चित्र रंगों का जोड़ नहीं वे ही रंग पिकासो के हाथ में कुछ और हो जाते वे ही रंग वानगा के हाथ में कुछ और हो जाते वे ही रंग आप भी पोत डालें तो कुछ भी नहीं होते हैं ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा कीमती रंग और ज्यादा रंग कैनवास पर पोत डालें और पिकासो साधारण से रंग को उठा के कैनवस पर फेंक दे तो भी कैनवस कुछ और हो जाता है निश्चित ही रंगों का जोड़ नहीं है चित्र जोड़ से कुछ ज्यादा है रंग से प्रकट होता है लेकिन रंग ही नहीं है कविता शब्द से प्रकट होती है लेकिन शब्द ही नहीं है एक वीणा वादक वीणा पर चोट कर रहा है ये सिर्फ तार पर की गई चोट नहीं है ये चोट कोई भी कर सकता है संगीत उससे पैदा नहीं होता इस चोट में भी एक भीतरी समन्वय इस चोट में भी चोट से ज्यादा एक गुण इस संगीत जो सुनाई पड़ रहा है इस सुनाई पड़ने वाले संगीत में एक छिपा हुआ संगीत भी है वो छिपा हुआ संगीत प्रकट हो रहा है इस संगीत से लेकिन इसका जोड़ नहीं जोड़ का मतलब होता है खंडों में जितना है जोड़ में भी उतना ही होगा जोड़ से ज्यादा का अर्थ होता है खंडों में जो नहीं दिखाई पड़ता था वो जोड़ में प्रकट होता है जोड़ खंडों के जोड़ से ज्यादा अगर हो तो सावयव ऑर्गेनिक यूनिटी पैदा हो जाती कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों में हम फर्क नहीं कर पाते और अगर फर्क ना कर पाए तो जीवन का एक बहुत मूल बहुमूल्य आयाम खो जाता है हम फर्क नहीं कर पाते पहली बात तो हमारी समझ में आ जाती है दूसरी बात हमारी समझ में नहीं आती इसे ऐसा समझे मेरे शरीर को काट डाला जाए सब खंड अलग रख लिए जाए और फिर सारे खंडों को जोड़ के मुझे खड़ा कर दिया जाए मेरे सारे खंड अलग कर लिए जाएं और फिर मेरे सारे खंडों को जोड़ के खड़ा कर दिया जाए फिर एक मोटर का इंजन है उसको खोल के एक एक टुकड़ा अलग कर दिया जाए और फिर सारे टुकड़े जोड़ दिए जाए तो फर्क पता चलेगा कि मोटर का इंजन अंगों का एक जोड़ मात्र था तोड़ दो फिर जोड़ दो फिर इंजन शुरू हो जाता है लेकिन आदमी के शरीर को तोड़ दो फिर बिल्कुल वैसा ही जोड़ दो कुछ भी शुरू नहीं होता कोई चीज खो गई जो जोड़ से ज्यादा थी वो खो गई इसका मतलब यह हुआ कि जो जोड़ मात्र है उसको हम विश्लेषण से समझ सकते हैं जो जोड़ से ज्यादा है उसे हम विश्लेषण से कभी नहीं समझ सकते इसलिए अनेक बार ऐसा हो जाता है कि व्याकरण में जो बहुत गहरा निष्णात है वो काव्य को समझने में असमर्थ हो जाता है क्योंकि वो केवल जोड़ जानता है भाषा के नियम जानता है भाषा का गणित जानता है सब जानता है लेकिन भाषा में कुछ ऐसा भी प्रकट होता है जो नियम के पार है जो गणित से दूर है जो व्यवस्था का हिस्सा नहीं व्यवस्था में भीतर प्रकट जरूर होता है लेकिन व्यवस्था के बाहर से आता है उतरता है वो चूक जाता है इसलिए भाषा शास्त्री जितना ज्यादा भाषा को जानता है उतना ही मुश्किल होता जाता है उसे काव्य को समझना क्योंकि काव्य की समझ एक दूसरे ही आयाम की मांग करती है वो आयाम है कि जीवन इकाई खंड का जोड़ नहीं होती जोड़ से ज्यादा होती है और वो जो ज्यादा है वो सिर्फ प्रकट होता है अगर आपने तोड़ दिया तो वो प्रकट हो जाता है वो खो जाता है इस सूत्र में इस गहन सत्य की उद्घोषणा की गई ऋषि ने कहा है मैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हूं दोनों में ही हूं ऐसा मत सोचना कि मैं छोटा से छोटा हूं तो मैं बड़े से बड़ा कैसे हो सकूंगा इस सूत्र में ऋषि कह रहा है कि खंड भी मैं ही हूं और अखंड भी मैं ही हूं क्षुद्रतम में भी मैं ही हूं और विराट तम में भी मैं ही हूं इसका मतलब हुआ कि क्षुद्र और विराट दो चीजें नहीं है संयुक्त है नहीं तो मैं दोनों में कैसे हो सकूंगा इस अंगुली में मैं ही हूं और इस पूरे शरीर में भी नहीं है असल में मेरा होना एक विस्तार है जो क्षुद्र से लेकर विराट तक फैला हुआ है या ऐसा कहें कि क्षुद्र और विराट मेरे ही दो छोर हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म जहां दर्शन समाप्त हो जाता है और दिखाई नहीं पड़ता वहां भी मैं हूं और विराट से विराट जहां दर्शन को सीमा नहीं मिलती अनंत हो जाता है वहां भी मैं ही हूं यहां मैं से अर्थ ऋषि का नहीं यहां मैं से अर्थ अहंकार का नहीं यहां मैं से अर्थ उस साक्षी का है जिसकी हम पिछले सूत्र में चर्चा की उस साक्षी का उस साक्षी का अनुभव होते ही क्षुद्र और विराट दोनों मेरे छोर हैं और ये क्षुद्र और विराट अनेक अनेक दिशाओं में फैला हुआ है जिसे जीसस ने कहा है before Abraham I was Abraham था उसके पहले भी मैं था अब्राहम को हुए हजारों वर्ष हो चुके थे जीसस के वक्त में अब्राहम के पहले मैं था इसका क्या मतलब अर्जुन से कृष्ण ने कहा है कि इसी गीता को जो मैं तुझसे कहता हूं मैंने पहले फला ऋषि को कहा था उसके पहले फला ऋषि को कहा था उसके पहले फला ऋषि को कहा था और इन ऋषियों को हुए हजारों वर्ष हो चुके ये कृष्ण और जीसस क्या कह रहे हैं ये ये कह रहे हैं कि समय के आयाम में जो प्रथम है वो भी मैं हूं और समय के आयाम में जो अंतिम होगा वो भी मैं हूं ये जो समय की धारा है इसमें प्रथम और अंतिम जुड़े ये समय की पूरी धारा मेरी ही धारा है क्षुद्रतम कण है उसमें भी मैं हूं और एक विराट सूर्य है उसमें भी मैं हूं ये क्षेत्र स्पेस के दो छोर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पहला अंतिम ये समय के छोर है हर आयाम में एक का ही विस्तार है ऊपर से देखने पे बहुत कठिन होगा मालूम कि एक क्षुद्र कण पड़ा है आपके आंगन में वो भी वही है और ये विराट जगत भी वही है गणित मुश्किल में पड़ेगा क्योंकि गणित कैसे मान सकता है कि ये छोटा सा कण और ये विराट जगत दोनों एक है गणित कहेगा ये छोटा सा कण है कहा ये विराट जगत कहा ये विराट जगत कहा ये छोटा सा कण कहा ये घास की दूब और कहा ये विराट जीवन लेकिन घास के छोटे से तिनके में भी वही जीवन प्रकट हो रहा है जो एक महासूरी में जल रहा है इससे अगर हम वैज्ञानिक ढंग से भी समझना चाहें तो समझ सकते थोड़ी सहायता मिलेगी कभी आपने ख्याल न किया होगा कि अगर वैज्ञानिक गणनाओं को भी हम थोड़ी सी गहराई में खोजना शुरू करें और विज्ञान को सीमा में न बांधे और वैज्ञानिक बुद्धि को एक मतान्धता न बनाए तो विज्ञान से भी झलके धर्म की मिलना शुरू हो जाती क्योंकि अंततः विज्ञान भी उसी जगह तो काम कर रहा है उसी जीवन पर जिस पर धर्म कहीं ना कहीं उसकी प्रतीतियां भी धर्म की अनुभूतियों से कुछ न कुछ संबंध तो बनाएंगी क्योंकि दोनों का काम तो एक ही जगह चल रहा है एक ही जीवन पर एक छोटा सा घास का तिनका है उसके भीतर जीवन का विज्ञान में क्या अर्थ है उसके भीतर भी जीवन का अर्थ वही है जो आपके भीतर है एक महासूरी के भीतर है महासूरी के भीतर क्या हो रहा है बड़े पैमाने पर हो रहा है हमारी पृथ्वी जितनी बड़ी है हमारा सूर्य उससे साठ हजार गुना बड़ा है लेकिन ये बहुत छोटा मीडिया का सूर्य है ये कोई बहुत बड़ा सूर्य नहीं है इससे बहुत बड़े बड़े सूर्य जगत में है वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई दो अरब सूर्य सारे जगत में है जिनको आप रात में तारे कहते हैं वो महासूर्य है सिर्फ फासला इतना ज्यादा है कि वो छोटे तारे दिखाई पड़ते हैं ये हमारा सूर्य उनके सामने बहुत छोटा है इसकी कोई गणना नहीं है इस विराट जगत में अगर इस सूर्य का आप पता पूछने जाएं तो पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि आप किस सूर्य की बात कर रहे हैं जिस दिन हम अंतरिक्ष यात्रा में सफल हो जाएंगे और दूर की यात्रा पर आदमी निकलेगा उस दिन अगर हमें कहीं किन्हीं दूसरी पृथ्वियों पर और वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम पचास हजार ग्रहों पर जीवन है कम से कम होना चाहिए तो उन या उन ग्रहों पर अगर हम कभी पहुंचेंगे तब उनको पहली दफा पता चलेगा कि एक सूरज और भी है जिसके पास एक छोटी सी पृथ्वी पर जीवन है ये जो दो तीन अरब सूर्यों का विस्तार है इनमें भी जीवन का जो सूत्र है वो वही है जो छोटे से घास के तिनके वैज्ञानिक उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन वो कहते हैं कि छोटा सा तिनका भी हवा से ऑक्सीजन को पीता है और अपने भीतर जलाता है उसके जलने से ही जीवन चलता है जैसे दिया आपका जल रहा है आपने कभी ख्याल किया कि तूफानी हवा चल रही हो और दिया जल रहा हो तो ये हो सकता है कि तूफानी हवा में दिया बच जाए लेकिन बचाने के लिए अगर आप एक बर्तन उस पर ढांक दें तो जल्दी बुझ जाएगा क्योंकि बर्तन के भीतर की ऑक्सीजन जैसे ही दिया पी लेगा जला लेगा फिर मरेगा फिर बच नहीं सकता तो दिया पूरे वक्त हवा की ऑक्सीजन को लेकर जला रहा है आप भी वही कर रहे हैं पूरे वक्त जो सांस चल रही है वो ऑक्सीजन लेने के लिए चल रही है और आप भी भीतर एक अग्नि है जो उस ऑक्सीजन को जला रही है इसलिए आपकी सांस बंद कर रहे और प्राण छूट गए जब आप दिए पे बर्तन ढांक देते हैं आपने उसकी सांस बंद कर दी प्राण छूट गए एक घास के ऊपर बर्तन को ढांक दें आपने उसकी सांस बंद कर दी प्राण छूट जाएंगे एक खूबसूरत पौधे को घर के भीतर लगा के रख लें दो दिन में पाएंगे उसका प्राण जाने लगा क्योंकि उससे जो जीवंत जो प्रक्रिया थी उसके भीतर विज्ञान के हिसाब से वो इतनी थी कि वो अपने भीतर हवा को ले जाकर उसमें से ऑक्सीजन जला रहा था और जब ऑक्सीजन जल जाती है तो जो कार्बन बच जाता है उसको बाहर फेंक रहा था हम भी फेंक रहे हैं पूरे वक्त इसलिए अगर एक भीड़ भरे कमरे में आप सो जाएं और सब तरफ से कमरा बंद हो तो रात भर में सारे लोग मर सकते हैं क्योंकि अगर कमरे की ऑक्सीजन चुक जाए और सब कार्बन को फेंकते चले जाएं और फिर मजबूरी में कार्बन ही पीना पड़े तो आप मर जाएंगे चाहे महासूर्य जल रहा हो और चाहे एक घास का तिनका जी रहा हो और चाहे एक बुद्ध जी रहे हो जीने का नियम एक ही सब अपने अपने पैमाने पर प्राणवायु को जला रहे हैं विज्ञान के हिसाब से तो अगर हम ये भी समझें तो भी पता लगेगा कि क्षुद्र से क्षुद्र में और विराट से विराट में एक ही जीवन है कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है कि पृथ्वी भी श्वास लेती पृथ्वी भी श्वास लेती है रोए रोए छिद्र छिद्र से और इसलिए कोई भी पृथ्वी जीवित नहीं हो सकती अगर उसके पास कम से कम 200 मील का वायु का घेरा ना हो ये हमारी पृथ्वी भी 200 मील तक वायु का घेरा है इसके चारों तरफ इसलिए अब तो वैज्ञानिकों को सूत्र मिल गया है कि जिस ग्रह के पास भी वायु का घेरा है अगर उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा है तो वहां जीवन होगा क्योंकि वो पृथ्वी जीवित है इसका मतलब हुआ कि कुछ पृथ्वियां जीवित हैं कुछ पृथ्वियां मृत है लेकिन जो आज मृत है वो कभी जीवित थी और आज जो जीवित है वो कभी मृत हो जाएंगी इनकी जीवन प्रक्रिया लंबी है ये दूसरी बात है कि हम कई बार मरते और जीते हैं अनेक अनेक बार और पृथ्वी जीती रहती पहाड़ भी श्वास लेते हैं पहाड़ों में भी मुर्दा पहाड़ है और जिंदा पहाड़ जिस पहाड़ी पर हम बैठे हुए ये एक मरी हुई पहाड़ी ये कभी जीवित थी ये जगत की पुरानी से पुरानी पहाड़ी हिमालय इस पहाड़ी के सामने बच्चा है लेकिन हिमालय अभी जीवित है ये जान के आप हैरान होंगे कि हिमालय पर भागने का सन्यासी का आकर्षण गहरे में कुछ और है हिमालय इस पृथ्वी पर थोड़े से जीवित पर्वतों में से एक है अभी जीवित है अभी बढ़ रहा है अभी श्वास ले रहा है हिमालय रोज बढ़ रहा है ऊंचा होता जा रहा है अभी उसमें गति ग्रोथ है बढ़ाव है जो पर्वत जीवित होता है उस पर साधना बहुत आसान हो जाती है लेकिन साधना की पद्धति पर निर्भर करेगा साधना की पद्धति पर निर्भर करेगा कि कौन सा पहाड़ कुछ साधना की पद्धतियां ऐसी हैं कि मुर्दा पहाड़ सहयोगी होता जिन्होंने जहां जहां अपने तीर्थ चुने हैं वो सब मुर्दा पहाड़ जान के चुने जैनों की जो साधना की पद्धति है वो मुर्दा पहाड़ पर सही होती है इसलिए जैनों ने हिमालय को बिल्कुल छोड़ दिया हैरानी की बात मालूम पड़ती है हिमालय जैसा पर्वत जिस देश में हो उसमें एक धर्म उसको बिल्कुल छोड़ दे कहीं उससे संपर्क ही नहीं बनाए जरूर कुछ गहरा कारण होगा कारण है हिमालय जिंदा पहाड़ है जैन की जो पद्धति है वो गहरे में तप पर निर्भर है जितना मुर्दा जगह हो तप उतना गहन हो जाता है हिंदुओं की जो जीवन पद्धति है वो जीवन को घटाने की तरफ नहीं बढ़ाने की तरफ दोनों एक अंत पर पहुंच जाते हैं अगर जीवन बिल्कुल घट के शून्य हो जाए तो आदमी विराट में प्रवेश कर जाता है या जीवन बढ़ के बिल्कुल पूर्ण हो जाए तो भी आदमी विराट में प्रवेश कर जाता है तो हिंदुओं ने जितने भी तीर्थ चुने हैं जितने स्थान बनाए साधना के वो जीवित पहाड़ चुने होंगे और अगर जीवित पहाड़ नहीं मिला तो नदी चुनी ये मजे की बात है कि कोई मुर्दा नदी नहीं होती सभी नदियां जिंदा होती क्योंकि मुर्दा नदी का मतलब होता है कि सिर्फ नदी का रास्ता रह जाता है पानी तो सूख जाता है तो मुर्दा नदी का मतलब होता है कि वो खो गई वो नहीं जहां जीवन मिल सकता था हिंदुओं ने वहां वहां वहां अपने साधना के स्थल चुने जहां जीवन खो गया था वहां वहां जैनों ने अपने साधना के स्थल चुने ताकि वहां तप में और गहनता हो सके तप में और गहरा उतरा जा सके जैन पद्धति पूर्ण मृत्यु को उपलब्ध करने की पद्धति है इसलिए संथारा की आज्ञा दी जा सके हिंदू पद्धति पूर्ण जीवन को पाने की पद्धति है परिणाम एक है क्योंकि चाहे जीवन शून्य हो जाए और चाहे जीवन पूर्ण हो जाए दो छोर हैं उनसे आप बाहर गिर जाते हैं पूर्णता के छोर से गिरते हैं तो भी शून्यता के छोर से गिरते हैं तो बाहर गिर जाते पृथ्वी भी श्वास ले रही है पहाड़ भी श्वास ले रहे हैं उनकी प्रक्रिया भी वही है उनकी प्रक्रिया भी वही है जमीन के भीतर कोयले की खदाने हैं विज्ञान कहता है कि वो जमीन के द्वारा जो कार्बन इकट्ठा होता है वही है आपके भीतर भी कोयला इकट्ठा होता है वही कोयला इकट्ठा हो हो के आपको बूढ़ा करता है जितना कार्बन इकट्ठा होता जाता है उतने आप बूढ़े होते चले जाते जिस दिन कार्बन की मात्रा इतनी हो जाती है कि वो आपके जीवन से ज्यादा हो जाता है उस दिन आप मरने के करीब पहुंच जाते हैं जिस दिन आप मरते हैं विज्ञान की भाषा में उस दिन आप कार्बन हो गए उस दिन आप में ऑक्सीजन न रही बात समाप्त हो गई आपका यंत्र टूट गया अगर हम इसे जीवन का प्रक्रिया मान लें है ये जीवन की प्रक्रिया कम से कम जीवन के प्रकट होने की जीवन यही नहीं है लेकिन जीवन के प्रकट होने का अवसर यही है कि वहां एक विशेष संतुलन ऑक्सीडाइजेशन अक्षीकरण का एक विशेष संतुलन चाहिए तो सारा विराट जगत इसी एक ही प्रक्रिया से जीता है और सारा विराट जगत एक ही आंदोलन से जीता है पृथ्वी श्वास लेती है तो ठीक ही है इधर कुछ रूसी वैज्ञानिकों का ख्याल निर्मित बनना शुरू हुआ है कि जैसे हमारी छाती फूलती और सिकुड़ती है श्वास लेने में ऐसी पृथ्वी प्रतिपल थोड़ी बड़ी और छोटी होती बहुत बार शायद पृथ्वी के इसी हड़कंप से बहुत से हलचलन पैदा हो जाए आज नहीं कल ये बात शायद साफ हो जाएगी कि पृथ्वी पर भी हृदय के दौरे पड़ जाते न केवल पृथ्वी बल्कि पूरा विश्व भी पूरा यूनिवर्स भी श्वास लेता है और पूरा विश्व भी छोटा और बड़ा होता है जैसे हमारी छाती फूलती और निश्चित ही उसके छोटे बड़े होने का समय बड़ा लंबा होगा क्योंकि उसकी श्वास बड़ी गहरी होगी हिंदुओं ने इसको प्रतीक में कहा है कि जो हमारे लिए एक कल्प है वो ब्रह्मा के लिए एक दिन है तो जो हमारे लिए करोड़ों श्वास होंगी तो वो ब्रह्मा के लिए शायद एक श्वास शायद वो श्वास इतनी लंबी होगी कि हम उस श्वास में अनेक बार जन्मेंगे और मरेंगे इसलिए हमें उसका पता भी नहीं चलेगा जब हम श्वास ले रहे हैं तब उसमें भी जीवाणु मर रहे हैं उनको कभी पता नहीं चलेगा हमारी एक श्वास भीतर जाती है उस बीच हमारी श्वास में न मालूम कितने करोड़ जीवाणु जी लेते हैं जन्म लेते हैं मर जाते हैं हमारा ओठ एक बार दूसरे ओठ से मिलता है उस मिलने के क्षण में न मालूम कितने करोड़ जीवाणु जी लेते हैं जन्म लेते हैं मर जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ओठ वापस खुलेगा जो हमारी श्वास में जन्मा जिया जन्म दे गया दूसरों को मर गया उसे कैसे पता चलेगा कि श्वास अब बाहर भी लौटेगी पूरा विश्व श्वास ले रहा है इसी को हिंदुओं ने कहा है कि जो अंड में है जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में विस्तार है जो अणु में है वही विराट में है विस्तार का फर्क है लेकिन ऋषि कहता है मैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हूं इस विचित्र संसार को मेरा ही रूप मानना चाहिए इस विचित्र संसार को मेरा ही रूप मानना चाहिए मैं ही पुरातन पुरुष हूं जो सबका आधार है मैं ही शिव का रूप हूं और मैं ही हिरण्यमय हूं इस विचित्र संसार को मेरा ही रूप मानना विचित्र जानकर कहा है विचित्र इसलिए कहा है कि गणित ऐसे समझा ना पाएगा तर्क इसे हल न कर पाएगा यही इसकी विचित्रता है और जो इसे तर्क से हल करने चलेगा वो भटक जाएगा वो इसे कभी हल ना कर पाएगा तर्क जिसे हल कर लेता है वो विचित्र नहीं है गणित जिसे निपटा लेता है वो विचित्र नहीं है विचित्र का मतलब ये होता है कि गणित जहां असमर्थ है तर्क जहां व्यर्थ है जहां हिसाब किताब से कुछ पकड़ में नहीं आता बल्कि उनकी पकड़ में आ जाता है जो सब हिसाब किताब छोड़ के छलांग लगा जाता ये संसार विचित्र इसलिए है कि कभी कभी पागल इसे समझ लेते हैं और बुद्धिमान इसे चूक जाते शायद हमारी सदी की पीड़ा ही यही है कि अति बुद्धिमत्ता है शायद हमारी पीड़ा ही यही है कि हमने सब नियम खोज लिए हैं कि ठीक क्या है सत्य क्या है सही क्या है और जो उसमें नहीं बैठता तो हम मुश्किल में पड़ जाते यूनान ने तर्क को जन्म दिया और दो ढाई हजार वर्षों में उसकी काफी प्रक्रिया को विकसित किया लेकिन मजे की घटना यूरोप में घटी और वो घटना ये घटी कि यूनान ने तर्क के आधार से सत्य को खोजने की जो चेष्टा की थी सत्य तो नहीं मिला 2000 वर्षों की चेष्टा में मिला कुछ और और पश्चिम में यूनान की जड़ों पर बढ़े हुए पौधे का जो आज फूल खिला है वो कहता है जीवन में कोई सत्य है ही जीवन अर्थहीन मीनिंगलेस जीवन एप्सर्ड बेमानी सत्य तो मिला नहीं अर्थ तो मिला नहीं जीवन का अभिप्राय तो मिला नहीं जीवन का प्रयोजन तो मिला नहीं जीवन किस लिए है इसका उत्तर तो मिला नहीं लेकिन तर्क जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे निष्पत्ति हाथ में ये आई कि सत्य है ही नहीं और सत्य की सारी बातचीत केवल शब्दों का खेल है इसलिए पश्चिम में अनुभव किया जा रहा है कि दर्शन मर गया है ऑक्सफर्ड हो या कैम्ब्रिज हो या हार्वर्ड हो वहां जो आज पढ़ाया जा रहा है दर्शन के नाम पर वो दर्शन बिल्कुल नहीं है वहां आज ये पढ़ाया जा रहा है कि दर्शन का जन्म ही भाषागत भूल से हुआ है लिंग्विस्टिक है मामला भाषा का मामला है ये गलती भाषा की हो गई है ये भाषा की वजह से आदमी ऐसे ऐसे सवाल उठा लेता है फिर उनके प्रश्न पूछने लगता है कोई सत्य नहीं है सत्य केवल भाषागत खेल है और कोई अर्थ नहीं है जीवन में अर्थ सब कल्पित है और जीवन में कोई श्रृंखलाबद्ध सूत्र नहीं है जीवन एक अराजकता है तर्क यहां ले जाएगा उसका कारण है क्योंकि जीवन विचित्र है जीवन एक रहस्य और रहस्य को समझने जब भी कोई तर्क से चलेगा तो असल में वो नहीं समझने का तय करके चला मैं कहता हूं कि मुझे किसी से प्रेम अब प्रेम एक विचित्रता है आप कहेंगे कहां है मुझे दिखा दें तब मैं मुश्किल में पड़ूंगा अगर मैं दिखाने की भी कोशिश करूं तो क्या करूंगा यही कर सकता हूं कि प्रेमपूर्ण व्यवहार करूं आप कह सकते हैं ये नाटक नहीं होगा इसका क्या भरोसा है ये नाटक हो सकता है और हम प्रेम के इतने नाटक देख रहे हैं कि संभावना यही है कि नाटक हो इसमें भीतर कोई ऑथेंटिक कोई प्रमाणिकता है इसका क्या सबूत है हनुमान से कोई पूछता है तो अपना छाती फाड़ के बता देते मगर अगर अभी इस वक्त बताएंगे तो हम पकड़ उनका सुतान लेके जांच करवाएंगे कि जरूर कोई चालबाजी इसमें राम जो अंदर दिखाई पड़ते हैं पहले से कुछ इंतजाम किया हुआ है प्री अरेंज्ड होना चाहिए तो हृदय में कहा राम होने वाले क्या प्रमाण है कि प्रेम है अब तक तो कोई प्रमाण दिया नहीं जा सका यह भी मजे की बात है कि आप सब विचार करते हैं भला सब प्रेम ना करते हो विचार तो करते ही लेकिन इसे अब तक भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि आप विचार करते हैं क्योंकि क्या प्रमाण आपके मस्तिष्क को काटा पीटा जाए तो वहां कोई विचार नहीं मिलते आपके हृदय को काटा पीटा जाए वहां कोई प्रेम नहीं मिलता आपके हृदय में फुफ्फुस मिलता है जो सांस को चलाने का यंत्र है आपके मस्तिष्क में बहुत बहुत सूक्ष्म स्नायुओं का जाल मिलता है विचार तो कोई मिलते नहीं इन स्नायुओं के जाल में विचार कहां होते होंगे ये भी साफ नहीं हो पाता कैसे होते होंगे ये भी कठिनाई मालूम पड़ती है क्योंकि विचार और स्नायु इनका कोई तालमेल नहीं दिखता ये बिजली का तार फैला हुआ है इस तार को अगर कोई काट के जांच करे तो बिजली नहीं मिलेगी तार की जांच से तार ही मिलेगा बिजली नहीं मिलेगी बिजली थी जरूर बल्ब जलता था जरूर लेकिन तार के काटने से नहीं मिलता है तार से कुछ भिन्न उसमें प्रवाहित होता था काटते से ही प्रवाह बंद हो जाता है जैसे मस्तिष्क को काटते हैं प्रवाह बंद हो जाता है एक नई चिकित्सा की दिशा पैदा होनी शुरू हुई है जो कहती है कि आदमी के संबंध में जितनी भी अभी तक के निदान है डायग्नोसिस का दंग है वो सब गलत है जैसे समझ लें कि आप बीमार हैं और आपके खून को निकाल के जांच की जाती है तो नए विचारक ये कह रहे हैं कि जो खून भीतर बहता है वो जीवित था और आपने बाहर निकाल लिया वो मर गया मरे की जांच करके जीवित के संबंध में जो निर्णय लिया जा रहा है वो ठीक नहीं शरीर के भीतर वो खून जिंदा था उसका गुणधर्म और था वो जीवन की धारा में प्रवाहित था उसमें एक बिजली दौड़ रही थी जो जीवन था आपने उसे शरीर के बाहर निकाल लिया वो बिजली तो पीछे छूट गई तार हाथ में आया बिजली पीछे छूट गई अब तार की जांच करके आप जो निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय से आप बिजली को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे ये सब भ्रांत है शायद आज नहीं कल हमें आदमी के भीतर ही शरीर को जांचने के उपाय खोजने पड़ेंगे बाहर मुर्दा हो जाता है उसका गुणधर्म ही बदल गया जीवन विचित्र है क्योंकि तर्क से समझ में नहीं आता और तर्क से जो समझ में आता है उसमें से जीवन चूक जाता है छूट जाता है छिटक जाता है जैसे पारे पे कोई मुट्ठी बांधे और पारा छिटक जाए ऐसा ही जीवन छिटक जाता है तर्क की मुट्ठी बांधे और जीवन छिटक जाता है मगर अगर हम जिद करते जाएं कि चाहे जीवन छिटके लेकिन हम तर्क को तो पूरा करके ही रहेंगे तो आखिर में हम पाएंगे कि जीवन व्यर्थ है जीवन है ही नहीं सब धोखा है सब असत्य फिर भी इससे कोई मर तो नहीं जाता है शास्त्र कितना ही कहता हो कि जीवन अर्थहीन है फिर भी जिएगा और मार्शल कितना ही कहे कि जीवन बेबूझ है व्यर्थ है जिएगा और कोई कुछ भी कहे बेबूझ होने से व्यर्थ होने से अकारण होने से अराजक होने से कोई मर तो जाता नहीं लेकिन तब उदासी से जीता है और तब जीवन एक संताप बन जाता है तब जीवन एक बोझ है जिसे खींचना पड़ता है यूनान में एक विचारक हुआ पिर हो वो कहता था जीवन इतना व्यर्थ है कि आत्महत्या के सिवाय कोई सार्थकता नहीं लेकिन पिरो नब्बे वर्ष तक जिया और जब नब्बे वर्ष का बूढ़ा हो गया था तो किसी ने प्रभु से पूछा कि तुम जिंदगी भर समझाते रहे कि जीवन व्यर्थ है और आत्महत्या के सिवाय कोई मार नहीं दिखाई पड़ता है इससे छूटने का तुम अब तक मरे क्यों नहीं तो प्रभु ने कहा मामला ऐसा है कि लोगों को समझाने के लिए मुझे जीना पड़ा है कई लोग मर गए ऐसी कथा है कि प्रभु की मान के कई लोगों ने आत्महत्या कर ली कई शिष्य आत्महत्या कर ली लेकिन प्रभु को मजबूरी में लोगों को समझाने के निमित्त जीना पड़ा लेकिन लोगों को समझाने की जरूरत ही क्या है अगर जीवन व्यर्थ है और समझा के भी क्या समझ में आएगा कम से कम प्रभु का जीवन तो सार्थक मालूम पड़ता है समझा रहे हैं सफल हो रहे हैं कोई मर रहा है और वो बेचारे इस सब के लिए जी रहे हैं उनका जीवन कम से कम सार्थक मालूम होता है भला दूसरों को उन्होंने समझा दिया हो कि व्यर्थ प्रभु प्रसन्नता से जी रहे हैं क्योंकि कन्वर्ट उन्हें मिलते हैं शिष्य मिलते हैं वो प्रसन्नता से जी रहे अगर शास्त्र भी जीना है और जीवन व्यर्थ है तो फिर जीना भारी हो जाए अल्बर्ट कामू ने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब इस वक्तव्य से शुरू की है कि एक ही दार्शनिक प्रश्न है मनुष्य के सामने वो है आत्मघात the only metaphysical problem before mankind is suicide जीवन नहीं है सवाल आत्मघात है सवाल और ये यूनान के तर्क का 2000 साल की निष्पत्ति ये फूल भारत एक दूसरी दिशा से काम करता रहा है भारत की दिशा है जीवन के रहस्य को उसकी विचित्रता को तर्क से हल करने की नहीं अनुभूति से प्रवेश करने की विचार करके कोई उपाय नहीं है विचित्र को समझने का विचार दुश्मनी है उपाय नहीं है चिंतन से कोई द्वार नहीं खुलता रहस्य के समक्ष चिंतन मूढ़ता है चिंतन का अपना मार्ग है जहां रहस्य ना हो वहां चिंतन का उपाय है लेकिन जहां रहस्य हो वहां चिंतन के कपड़े बाहर ही उतार के नग्न प्रवेश करना उचित है जहां चिंतन का क्षेत्र ना हो कहां है वो क्षेत्र जो चिंतन का नहीं है खंड को जानना हो तो विचार उपयोगी है अखंड को जानना हो तो निर्विचार उपयोगी है टुकड़े को समझना हो तो तर्क उपयोगी है विराट को समग्र को समझना हो तर्क उपयोगी नहीं क्यों क्योंकि तर्क काट के ही समझता है विश्लेषण करके ही समझता है तर्क की पद्धति ही तोड़ना है इसलिए अगर जोड़ को समझना है तो तर्क से समझना एकदम बेमानी है अगर तलवार का काम काटना है तो किसी चीज को जोड़ने के लिए तलवार का उपयोग करना मूलता क्योंकि उसमें तलवार का कोई कसूर नहीं तलवार का काम ही काटना है वो है ही काटने के लिए उठाई तलवार और चले कोई चीज जोड़ने तो आखिर में जोड़ और मुश्किल हो जाएगा जो जुड़ा था वो और टूट जाएगा तर्क तलवार है किसी भी तथ्य को तोड़ने के लिए निश्चित तोड़ने से भी बहुत बातें समझ में आती विज्ञान उस प्रक्रिया का उपयोग करता है विज्ञान है विश्लेषण एनालिसिस तोड़ना इसलिए तर्क है उपाय धर्म है संश्लेषण सिंथेसिस जोड़ना इसलिए तर्क नहीं है उपाय और अगर तर्क उपाय नहीं है तो फिर ये सूत्र ठीक कहता है इस विचित्र संसार को मेरा ही रूप मानना चाहिए विचित्र है संसार अतर्क है इलॉजिकल है इरेशनल है बुद्धि की जिद करें तो बाहर ही खड़े रह जाते बुद्धि को छोड़ें तो ही भीतर प्रवेश इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी पागल पहुंच जाते हैं और बुद्धिमान अटक जाते हैं इसलिए बुद्धिमानों की नजरों में जीसस पागल ही है कुछ लोगों ने पश्चिम में ऐसी किताबें लिखी हैं जिनमें सिद्ध करने की कोशिश की है कि जीसस विक्षिप्त थे क्योंकि कोई आदमी अपने होश में यह कैसे कह सकता है कि मैं ईश्वर का पुत्र क्या मतलब इसका हिंदुस्तान इतना हिम्मतवर नहीं है नहीं तो हम कृष्ण को भी कहेंगे कि इस आदमी का दिमाग खराब था क्योंकि कोई आदमी कैसे कह सकता है कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ तो निपट अहंकार मालूम पड़ता है ये तो पागलपन की आखिरी ऊंचाई कि एक आदमी कहे कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ मैं ही सब कुछ हूं अगर ये सूत्र भी हम फ्राइडियन मनस्वित से पूछें कि इसका अर्थ क्या है तो वो कहेगा मैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी मैं हूं ये दिमाग खराब हो गया न्यूरोसिस या तो छोटे हो सकते हो या बड़े हो सकते हो दोनों तो एक साथ होने की बात ही गलत और अगर वो सुने कि ये भी कहना ऋषि कि इस विचित्र संसार को मेरा ही रूप मानना और मैं ही पुरातन पुरुष हूं जिससे ये सब जन्मा वो मैं ही हूं और जिसमें ये सब लीन होगा वो अंतिम भी मैं ही हूं तो वो कहेगा कि ये आखिरी बात हो गई इस आदमी ने सब होश खो दिए ये जो इगो है इतनी बड़ी हो गई कि पुरातन को भी घेर रही है ये अहंकार इतना बड़ा गुब्बारा हो गया जिसने सब घेर लिया फ्राडियन मनस्विद अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूं इस घोषणा को अहंकार की आखिरी विक्षिप्तता क्या सिर्फ कुछ भी नहीं मान सकता है और अगर तर्क से चले तो वो ठीक कहता है अगर हम ये मान लें कि तर्क ही चलने का एक उपाय है तो वो बिल्कुल ठीक कहता है लेकिन बड़े मजे की बात है कि जो ऐसा कह पाता है उसने जीवन में उसके जीवन में ऐसे फूल खिलते हैं जो कह पाता है अहम ब्रह्मास्म उसके जीवन में ऐसे फूल खिलते हैं उसके जीवन से ऐसा संगीत बहता है उसके जीवन से ऐसी आनंद की किरणें फूटने लगती हैं उसके जीवन में चारों तरफ शीतल हवाएं बहने लगती हैं न केवल वो आनंद से भर जाता है उसको जो छू लेता है निकट से उसके पास जो आ जाता है वो भी किसी अपूर्व प्रसाद का भागीदार हो जाता है लेकिन फ्राइड जो कहता है कि सब पागल है वो रात अंधेरे में बिना बिजली जलाए नहीं सो सकता सदा भयभीत जरा सा कोई उसके खिलाफ बोल दे तो वो इतना क्रोधित हो जाता है कि उस क्रोध में कुछ भी कर सकता है बुद्ध को वो समझेगा कि वो एबनॉर्मल है कुछ थोड़े चूक गए खुद को वो समझता है नॉर्मल अगर बुद्ध एबनॉर्मल है एबनॉर्मल है तो फिर एबनॉर्मल होना ही उचित है अगर बुद्ध पागल है तो फिर पागल होना ही उचित है अगर फ्राइड बुद्धिमान है तो फिर ऐसी बुद्धिमानी सिर्फ बुद्धिहीन ही चुनेंगे लेकिन तर्क फ्राइड का कसूर नहीं है फ्राइड वैज्ञानिक है बुद्धि उसके पास विश्लेषण की संश्लेषण का उसके पास कोई उपाय नहीं हाथ में उसके तलवार है चीजों को काटता है काट के खंड हाथ लगते हैं अखंड खो जाता है फूल के टुकड़े हाथ लगते हैं फूल का सौंदर्य खो जाता है कविता के शब्द हाथ लगते हैं काव्य खो जाता है चित्र के टुकड़े हाथ लगते हैं रंग कैनवस हाथ लगता है चित्र की समग्रता खो जाती वो भी क्या करे उसकी टेबल पर जिस प्रयोगशाला की टेबल पर वो बैठा है वहां काटने के सिवाय कोई उपाय नहीं काट काट के टुकड़े हाथ लगते एक सुंदरतम चित्र भी टुकड़ों में क्रूप हो जाता बेमानी हो जाती मेरी अपनी दृष्टि यह है कि शास्त्र और उस तरह के सारे विचारक जो कहते हैं जीवन मीनिंगलेस है उसका कारण यही है कि टुकड़े उनके हाथ में है जीवन के एक कविता के 25 टुकड़े करके बांट दें लोगों को अर्थहीन हो जाएगी अर्थ तो जोड़ में था एक मजेदार घटना घटी है वनगाग के जीवन में एक डच पेंटर था अद्भुत किसी स्त्री ने कभी उसको प्रेम नहीं किया चेहरा उसका कुरूप था एक वैश्या ने सिर्फ दयावर चेहरे में और तो कोई ऐसी चीज उसको दिखाई नहीं पड़ी जिसकी प्रशंसा करे वानगा के कान की प्रशंसा करती कि तुम्हारे कान बड़े सुंदर ये पहला मौका था जीवन में कि वानगा के किसी हिस्से की किसी ने प्रशंसा की किसी सुंदर स्त्री किसी सुंदर स्त्री ने प्रशंसा की हो तो वानगाग ऐसा अभिभूत हो गया कि घर गया कान काटा कपड़े में लपेटा और वैश्या को भेंट कर वैश्या तो घबरा गई उसने कहा ये तुमने क्या किया उसने कहा कि किसी ने कभी मेरे किसी भी चीज की तो प्रशंसा नहीं की तुम्हें कान इतना पसंद आ गया तो मैंने सोचा भेंट ही कहा लेकिन कटा हुआ कान बेमानी अर्थहीन उसमें अगर कोई अर्थ था भी तो सारे शरीर की संयुक्तता में था ये वैश्या इसको फेंकने के सिवाय और क्या कर सकता करीब करीब पूरे जीवन के साथ वैज्ञानिक के प्रभाव में तर्कशास्त्री के प्रभाव में हमने यही किया है सब चीजें काट डाली कट के सब चीजें व्यर्थ हो गई किसी चीज में कोई अर्थ और किसी चीज में कोई अभिप्राय नहीं रहा और किसी चीज में कोई रस नहीं रह गया क्योंकि जीवन की धार ही कट गई और सूख गई सब मुर्दा मुर्दा हो गया है मृत्यु हो सकती है खंडों में जीवन सदा अखंड में और ये अखंडता समस्त आयामों में इसलिए सूत्र कहता है पुरातन पुरुष मैं ही सबसे पहले जो था वो मैं ही हूं सब संत में जो होगा वो भी मैं ही जिसने सबको आच्छादित किया है वो भी मैं ही हूं जो सबसे आच्छादित होकर भीतर छिपा है वो भी मैं ही हूं ये मैं की घोषणाएं नहीं है इनका मैं से कोई भी संबंध नहीं है ये केवल अनुभूत तथ्य है जो उन्होंने जाने जिन्होंने तर्क को फेंका और रहस्य को अंगीकार किया और जिन्होंने बुद्धि को बहुत बुद्धि के साथ प्रयोग करके देखा और पाया कि बुद्धि जीवन को छीन लेती है मृत्यु को हाथ में दे देती है अगर बुद्धि के हाथ में सब कुछ रहा तो जगत एक मरघट के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता जीवन बुद्धि से बड़ा है और जीवन बुद्धि के पार है और बुद्धि का कोई तालमेल जीवन से नहीं हो पाता असल बात यह है कि बुद्धि केवल जीवन का एक उपकरण है उपाधे सीमाओं में मर्यादाओं में जीवन बड़ा है और विराट है क्षुद्र से जब भी हम विराट को समझने चलेंगे तो क्षुद्र अपनी सीमाएं विराट पर भी थोप देता है जीवन को जीकर जाना जा सकता है सोचकर नहीं जीवन को जीवन होकर जाना जा सकता है विचार कर नहीं और जीवन जैसा है उसे वैसा ही जानने की हिम्मत हो तो ही जाना जा सकता है अगर पहले से ही हम तय करके चले कि जीवन ऐसा होना चाहिए तो ही स्वीकार करेंगे तो फिर कभी नहीं जाना जा सकता बुद्धि पहले ही तय करके चलती बुद्धि निर्णय पहले ले लेती बुद्धि कहती है जो संगत है वही सत्य होगा और सत्य बिल्कुल असंगत मालूम होगा तब मुश्किल खड़ी हो जाती बुद्धि कहती है दो और दो मिलकर चार होने ही चाहिए और जिंदगी बड़ी विचित्र है यहां कभी दो और दो मिलकर पांच भी हो जाते हैं और कभी दो और दो मिलकर तीन भी रह जाते हैं जिंदगी जीवंत है मुर्दा चीजों को अगर जोड़ो तो दो और दो मिलकर चार ही होती है लेकिन जिंदा चीजों को जोड़ो तो कुछ भी हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ कहा नहीं जा सकता अगर हम दो प्रेमियों को अलग अलग नापें और फिर वो प्रेम में पड़ जाए तब नापें तो क्या आप समझते हैं कि दो मिलकर वो सिर्फ दो ही होंगे वो हजार गुना बढ़ जाते दो ही नहीं होते अगर कभी आपने प्रेम का क्षण जाना है तो आप पाएंगे कि प्रेम के क्षण में आपकी न मालूम कितनी ऊर्जाएं जग जाती हैं जो कभी जगी नहीं तो जब दो प्रेमी मिलते हैं तो दो व्यक्ति नहीं मिलते दो जगत मिल जाते और जोड़ दो नहीं होता जोड़ कुछ भी हो सकता और प्रतिपल जोड़ बदलता रहेगा सुबह कुछ होगा दोपहर कुछ होगा सांझ कुछ होगा आज कुछ होगा कल कुछ होगा कुछ कहा नहीं जा सकता जिंदगी बेबूज है तर्क की पकड़ के बाहर है तर्क मुर्दा ढांचे हैं जिंदगी किसी ढांचे को मानती नहीं जिंदगी सब ढांचों को तोड़ के बहती है कोई नियम नहीं मानती लेकिन अराजक नहीं ये नियम न मानना उसकी गहन स्वतंत्रता है अराजकता नहीं इस गैर नियम में भी एक गहरी संगति है लेकिन वो संगति उन्हीं को दिखाई पड़ेगी जो तर्क की संगति का ढांचा जबरदस्ती बिठाने की कोशिश न करे मैंने सुना है एक यूनानी लोक कथा है कि एक आदमी के पास एक बहुत बहुमूल्य बिस्तर था एक बहुमूल्य चारपाई थी स्वर्ण की हीरे जवारातों से जुड़ी इतनी महंगी थी चारपाई बिस्तर इतना महंगा था कि उसे तो छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता था तो जब कोई मेहमान उसके घर आता उस तो वो उसे सुलाता वो मेहमान को छोटा बड़ा कर देता था अगर मेहमान की टांग बाहर निकलती तो रात काट देता चारपाई बहुत कीमती थी और चारपाई को छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता था और मेहमान की सेवा की दृष्टि से कि मेहमान को तकलीफ ना हो अगर पैर लंबे होते तो पैर छांट देता अगर गर्दन बाहर जाती तो गर्दन छांट देता अगर पैर छोटे होते तो दो पहलवान लगा के खिंचाई करवा देता ताकि ठीक से बिस्तर पर वो आदमी आ जाए यह आदमी बिल्कुल तर्कयुक्त था यह आदमी बुद्धिमानी की आखिरी सीमा है वही कर रहा था जो सभी बुद्धिमान करते वही कर रहा था जो सभी तर्कशास्त्री करते हैं ढांचा तय है आपको हम छोटा बड़ा कर लेंगे आपके साथ ढांचा बदलने वाला नहीं धर्म का यही भेद है धर्म कहता है कि हम जीवन जैसा है उसे स्वीकार करते हैं और जैसा है जीवन वैसा ही उसे जानेंगे जैसा है जीवन वैसा ही उसे जिएंगे हम कोई बुद्धि को ऊपर से आरोपित करने का आग्रह हमारा नहीं तभी अखंड जाना जा सकता है और तभी रहस्य में प्रवेश mind can reason, mind can think, but thinking is a limitation. And reason also. So the moment mind encounters the unlimited, the infinite, difficulties arise. Because mind itself is a limitation. Mind has a window to look at the sky. But then the window is imposed on the sky. Then the sky is cut by the window. Then whatsoever you look from the window is not the infinite sky. It is a windowed sky a patterned sky. You have given a pattern to it. It is not real. It has been cultivated by you. And your boundaries of the window will become the boundaries of the sky. The same thing happens with the mind. Mind is a window to look at the world mind is a pattern to look through. When you look from the mind through the mind, the whole universe is distorted. You give your pattern to the universe. You look at the universe with an attitude, with a thought system, with a reason, with a logic, with a mathematics. If you really are interested to know the world as it is, to know existence as it is, then throw this mind totally. Then discard this window. Then don't give any pattern to your experience. Let the experience happen as it is. Then don't give any limitations to it. Then don't cling to your stupid logics Every logic is stupid. Why? It is stupid because that which you are going to encounter, to know, is illogical. Logic is man-made. Universe is not. Logic is yours, universe is not. Logic has all the limitations which a human mind can give to it. Logic is a byproduct of humanity. There was a time there was no humanity, no human mind, but the universe was. It existed without your mind. It existed without your logic. It existed without you. And it existed quite at peace. It will exist when you are not there is no mind, universe exists still. But the mind cannot exist without the universe. Universe is greater. Existence is original. Mind is just a byproduct. Mind is just a flowering. The tree can exist without this flower. But this flower cannot exist without the tree. Remember this. Don't go on imposing things from the flower on the tree. If the flower wants to know the tree, the flower must go deep down into the tree, into the sap of the tree. Be mingled with it. Be in a deep communion with it. It should not be an observer from the outside. The flower can observe the tree from outside. The flower can look down at the tree and begin to think the tree is ugly because flower has its own conception of beauty. But the flower has come out of this tree. So how something like a flower can come out of an ugly tree? And the flower is there because of the tree. And the tree is helping every moment. The tree is giving life every moment to the flower. And now a flower has its own conception, its own mind. Now the flower says the tree is ugly. Now the flower says the tree seems meaningless. Now the flower says the tree exists illogically. Mind is a flowering in the universe. It is good. It is beautiful. If you accept the universe as it is, it is beautiful. It is a a great value, mind is a great value added to the universe. If you look into the universe not through the mind as an outsider, but in a deep communion. This deep communion happens only when you drop your patterned thinking. When you drop your windowed Outlooks. When you drop your thoughts, concepts, theories, reasonings, rationalizations, when you drop everything of the mind, you just become conscious, thoughtlessly conscious. Free from prejudices, conceptualizations, philosophies, religions, theologies, when you just become conscious and become insiders, not an outsider. Drop into the universe with your mind purified of its pattern thinkings. Then you come to know a different phenomena. If you look from the mind as an outsider, you will know only the parts, never the whole. And you will not be able to connect even, to relate even the parts. Then the experience will be atomic. That's what is happening to science. Science is bound to come reducing everything to its atomic existence, to the minutest part, then the whole world becomes a chaos. There is no interrelatedness. Really, with science, there is no universe. Universe means one. Science has created multiverses. The very word universe means one. Uni one, science has created multiverses. Every science has its own universe. And no two sciences are in any way related. Every science goes in its own specialization, more to the parts, and then the whole is lost. you can know a part, but a part is always dead. Life exists in the relatedness of the total. Life is always of the whole. That's why life is holy. Both the words mean the same thing. Holy means of the whole belonging to the whole. The moment you begin to feel a belonging to the whole, you become holy. But science goes on dissecting, analyzing, cutting every phenomena into its parts. The moment you have cut any phenomena, any wholeness into parts, you have dead parts. Life belongs to the whole. It runs through the past. It belongs to the whole. The whole is not just a combination, accumulation, or a totaling of the past. The whole exists in its own right. The whole is something more than its past only then there is life. If the whole is just the parts, then the whole is dead. The whole is alive only when it is more, more than its parts, more than its constituent parts. It must go beyond the parts, only then life is there. That's why science cannot encounter life the very method debars it. The very approach closes the door. Science cannot come to consciousness because consciousness exists as a whole. For example, my hands and my mind, they are not related physically they are related in consciousness. My eyes see and my legs move accordingly. Somewhere deep down, seeing is related to my moving. The moving center is related to my cognitive center somewhere, where it is related. My body has parts as any mechanical thing. The parts are related mechanically, but they are deeply related as a conscious unit also. That consciousness is not centered anywhere in the body. That consciousness is just the wholeness. It is everywhere in the body and nowhere. You cannot pinpoint it where it is. It cannot be fingered out. It is everywhere. Every part of your body is conscious. Every part is related in a wholeness. That wholeness cannot be found by scientific methodology because the very methodology is based on analysis, on cutting, on dissecting. So science will never encounter life, and science will never encounter consciousness, and science is enabled intrinsically to encounter the divine in the world because all these things life consciousness divinity belong to wholes, not to parts. Religion is the search for the whole, and science is the search for the part. So science ultimately comes to atoms, and religion ultimately reaches to God, the whole. But mind is the difficulty, the problem. Our minds are trained scientifically. Our minds are trained analytically. And the method of analysis has some basic qualities. One quality is always to be the outsider. For example, someone came to me yesterday night and he said he was for the first time here. He observed your meditation. He came to me and he said, This looks absolutely foolish. He is right in a way. It looks foolish. Well, whether it is are not. But when he says it, he's saying something about himself, not about the meditation. It looks foolish to him. But how could he judge? He was not a participant. He was not in it. He was not doing it. He was observing. Science observes from the outside religion goes deep. Religion means involvement, looking at things from inside. A religious person will never say it looks foolish. He will say it looks strange. He will say it looks mysterious. This judgment Knows much about the person. He can judge a thing without knowing it. He can judge a thing without experiencing it. So I told that man, rethink about the whole thing. Whether your judgment is foolish are the persons who were doing it were foolish. Rethink about it. Because to judge a thing from outside is not good. It is not good. It is fallacious and to judge so immediately is not even scientific. And to judge according to one's own fixed mind and attitude according to one's prejudices is not just. But science goes on, logic goes on, mind goes on in this way, judging everything from the outside. From the outside, you can be aware only of parts. You can see my hand, you can see my eyes, you can see my face, you can see my legs, but you cannot see me. I am something existing as inside. part exists as my outside. I am the inside of my parts, and that inside is the whole. Someone jumping, crying, weeping, or laughing in meditation may look foolish, but from the outside, you don't know what is happening inside in him. What is happening inside in him? How can you know from the outside? If he is weeping, what is going on in him? What is happening to the whole inside? This weeping, if you take it as a part, then it is foolish. It is meaningless. If you take it as a whole, deep down something must be happening there which is being released by the tears. Deep down something must be exploding which is being thrown out by his cries and his screams, deep down must have been moving, which is shown by his mad movements. Deep down, something so new is happening. Something exploding. Some inner energy moving through new centers. But that is something inside and you cannot observe it. You have to go through it. You can be a participant but not an observer in religion. You can be an observer in science, never a participant. Really, for science, this is a basic condition. You should not be a participant. Because if you participate, you are involved in it. Then you become a party to it. So you must be neutral like a judge, outside. For science, it is a basic condition. For religion, quite the opposite is the basic condition. You must not be the observer because how can you observe anything which is inside? You can observe only the outside. You must be a participant. This is a basic condition for religion. You must be a participant. For science, non participation is the condition because it is a method to observe from the outside. For religion, deep involvement, deep commitment, participation is a necessary condition for it is a knowing of the inside. It is the knowing of the whole. You can know it only when you are in it. So sometimes it happens for a scientifically trained mind that which looks foolish for a religious mind may be the very wisdom. And the vice versa is also true. For a religious mind, that which looks foolish may be very meaningful, rational and logical for a scientifically trained mind. But if you are aware of the basic difference of approach, of the foundational difference of dimension, then you can say something can be scientifically foolish and religiously wise, and something can be religiously foolish and scientifically wise. And these two are not contradictory. That is what is meant by the strangeness and mystery of life. If we look at life as a mysterious phenomena, then contradictions are not there. They only appear. They are related. They are complementaries. Logical approach is good in itself within limitations illogical approach is also good in itself within limitations. If you are approaching the whole, then approach illogically. If you are approaching the part, then approach logically. Logic is the door to the parts. Illogic, our meditation, is the door to the whole. Meditation is illogical. It is a jump from the mind to the no mind. It is a jump from the reason to life itself. It is a jump from thinking to existence. So how can it be logical? It is a jump from thinking to existence. It is not thinking, it is experiencing. So I will say, be foolish scientifically be foolish when you approach religion. That foolishness pays. That foolishness ultimate proves to be wisdom. Be mad when you are approaching the whole. Be mad, I say, when you are approaching the whole. Don't cling to the, to the so-called sanity, which is based on the experiences of the past. Be mad. But this madness is divine. And this madness has a method of its own. religious madness is methodological. Religious madness is a method to approach the whole to the mystery of life, to existence itself, to take a plunge, to take a jump, to take suddenly a jump from the mind, because mind is your past and mind is your thinking, your thoughts, your culture, your civilization, your theologies. Mind is just thoughts, accumulation of thoughts. Existence is not. And thoughts are dead. Our thoughts are dead. Existence is alive. And all thoughts are borrowed. And existence is always original and all thoughts are just dust on the mind, accumulated in your movements, accumulated through your lives, deaths, births. Existence is ever fresh. Just like a flower, fresh, flowering this very moment a river flowing this very moment, a sun rising this very moment. Existence is ever fresh. Don't cling to the dead mind. Take a jump into the freshness of existence. Existence is always here and now, and mind is never here and now. Mind is always there and then. Either the mind is in the past or in the future, it is never in the present. Have you ever observed? Have you ever become aware of the fact that mind is never here? It is never now. It is always either in the past or in the future. and neither there is past nor there is future. Past is that which has gone dead, and future is that which has yet to be born. Only this moment, here and now, is existence. So when I say take a jump from the mind, I am saying take a jump from past orientation, from future orientation, take a jump here, this moment in the present. Existence is here. Mind never here. So they never meet. Mind never meets existence. Mind is just like a radar. It can look far away. It cannot look just near here. The radar cannot look near it can look far. Mind is a radar. It is a useful thing, but it always looks far away. Either the expense must be in the past or in the future. It cannot look here and now. Here and now is just missed by the radar. It is good to look for the future. It is good to look for the past. It is good to go down for memories. It is good to go down for desire but it is never good, absolutely useless for going down here and now in existence. Meditation means a jump. It is foolish. It is mad. But be mad in it and be foolish in it. And then you will gain a strange wisdom which comes only to mad minds, religiously mad minds. Life is a mystery It is not a mathematical problem.